उपासना ईश्वर का ध्यान इस विषय में प्रयास करते हैं आज हम उपासना के अंतर्गत संध्या के मंत्रों का उनमें से ओम वाक वाक इसका प्रयोग करेंगे इस मंत्र में ऊपर जो लिखा है इंद्रिय स्पर्श मंत्र तो इससे ये होता है कि यहाँ पर इंद्रियों का ग्रहण किया गया है वाक वाक आदि शब्दों से ये कुछ इंद्रिय हैं जिनका आप के साथ संबंध किया गया है आप का अर्थ भौतिक अर्थ तो यहाँ दिया हुआ है जल परंतु <clears throat> स्वामी जी ने जैसा संकेत किया है कि जल उपलब्ध हो और आलस्य आदि नहीं आता हो आलस्य आदि यानी आता हो तो सेचन करें छिलकाव करें नहीं तो आवश्यक नहीं है परंतु स्पर्श का जहाँ है विधान आपह के साथ स्पर्श यह तो होना चाहिए पर अब दोनों की संगति भी लगानी होगी <coughs> जल का भी स्पर्श करना भी है और नहीं भी करना है तो इस अर्थ में हम इस पक्ष में लेंगे भौतिक जल तो नहीं लेंगे यहाँ अर्थ लेकिन पीछे जो आप है वो कौन है ईश्वर है सर्व्यापक ईश्वर है तो ईश्वर के साथ इन इंद्रियों का स्पर्श यानी संबंध ये मन से करना चाहिए वाक वाक वैसे जो दो इंद्रियां हैं उसके लिए तो दो दो शब्द साहु चरितार्थ हो जाएंगे कहीं पर एक ही शब्द है एक ही इंद्रिया है वाग इंद्रिया एक ही है फिर भी वहाँ दो बार पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर केवल दृढ़ता अर्थ ले लेंगे दो बार कहने से कोई अर्थ सुदृढ़ हो जाता है द्विधाबद्धम सुबद्धम सुबद्धम भवती तो उच्चारण की दृष्टि से और दृढ़ता की दृष्टि से दो बार यदि शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो भी कोई बाधा नहीं है ऐसा मान के वहाँ वाघ इंद्रिया एक होने पर भी दो शब्द से उसका प्रयोग कर लेंगे जीवा में यद्यपि वाघ इंद्रिय भी है और रसना भी है पर यहाँ इंद्रिय भेद के कारण वाक शब्द दूसरी इंद्रिय का ग्रहण नहीं कराएगा एक ही अर्थ में लेना ठीक लगता है या लेना चाहिए तो यहाँ मुख्य रूप से है जो मंत्र में तीन भाव इसके बनाने होते हैं शब्दार्थ वैसे पता है आपको वाक वाक वो वाग माने वाणी हम्म। वाणी अर्थात जो उच्चारण करते हैं जिससे हम शब्द का वो वाग इंद्रिय कर्म इंद्रिय है तो वाणी इंद्रिय हो गया वाक वाक दूसरा है प्राण प्राण वैसे इंद्रियों में गिनती में आता नहीं है कहीं से भी फिर भी यहाँ पर इसको इंद्रिय के अंतर्गत माना है ऐसे अन्य भी आगे भी है ना भी है कंठ है हम्म। कई सारे शब्द हैं बाहु है बाहु तो हो जाएगा तो ये सब इंद्रिय साक्षात पठित नहीं है फिर भी इंद्रिय के अंतर्गत मानने से यहाँ इंद्रिय का अर्थ लेना चाहिए इंद्रिय अर्थ इंद्र अर्थात आत्मा आत्मा का जो लक्षण है आत्मा के जो साधन हैं आत्मा के प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले जो यंत्र हैं या साधन हैं वो सभी इंद्रिय हैं इस रूप में सारा शरीर भी इंद्रिय हो जाएगा लेकिन यहाँ पर <clears throat> कुछ सीमित करके इन विशेष रूप से ग्रहण किया गया है तो इस कारण से ये सब इंद्रिय के अंतर्गत आ जाएंगे प्राण से दस प्राण भी ले सकते हैं <clears throat> और पांच प्राण भी ले सकते हैं अथवा जो श्वास प्रश्वास के रूप में आना जाना मात्र है इसका भी ग्रहण प्राण शब्द से हो सकता है दूसरा है प्राण नासिका इंद्रिय से संबंध रखता है तो उस नासिका इंद्रिय का भी ग्रहण हो जाएगा इससे ऐसे चक्षु चक्षु ये स्पष्ट है दो हैं ही चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम में भी दो दो कान हैं इसमें भी कोई बाधा नहीं है ओ नाभि नाभि इंद्रिय है नाभि के ऊपर क्या होता है सारा शरीर खड़ा रहता है जैसे आगे झुकना होता है तो उसके लिए सारा बल नाभि पर आता है नीचे का भी झुकते हैं जो भी होता है चलते हैं कुछ भी करते हैं तो सारे शरीर का जो संतुलन बनता है वो नाभि के आधार पर होता है इस कारण से एक भी हाथ मोड़ते हैं उंगली भी मोड़ते हैं तो पहले नाभि पर उसका प्रभाव पड़ता है नाभि से सारे संचालित होते हैं और वाणी आदि भी जो उच्चारण हम कर रहे हैं ये सब सभी का मूल नाभि होता है इस कारण से सारे शरीर का जो आधार होता है वो नाभि ही होता है शरीर की रचना भी नाभि के माध्यम से होती है क्योंकि माता का और शिशु का जो संबंध होता है वो नाभि के माध्यम से ही रहता है माता के शरीर से जितने सारे अवयव होते हैं शिशु शरीर में वो सभी नाभि से होकर के ही शेष शरीर में जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि नाभि से संपूर्ण शरीर का संबंध है वहीं से सारे यंत्र अवयव जाते हैं तो दो माध्यम हो जाते हैं बाद में जब शिशु बढ़ जाता है तो मुख से खाने लग जाता है तो दोनों स्रोत हैं उसके मौलिक स्रोत किंतु नाभि है शरीर का नाभि के होकर के सारे प्राणों का या अन्य जितने भी अंग हैं सभी का सीधा संबंध है बाद में जब भोजन की प्रक्रिया बदल जाती है मुख से आरंभ हो जाती है तो नाभि का दूसरा भाग बंद हो जाता है तो दूसरा मुख खुल जाता है लेकिन उससे पहले जो रचना है वो सारी की सारी नाभि के माध्यम से है इस कारण से शरीर का सारा का सारा तंत्र नाभि से प्रभावित रहता है हम्म, इसके हम्म, इसके बाद है हृदयम हृदय का अर्थ है जो हृदय के स्थान वाला भाग है हृदय के निकट का भाग है वो मुख्य हृदय होता है पर यहाँ पर हृदय का अर्थ इस भौतिक हृदय का भी ले सकते हैं जहाँ है? हृदय भी दो तरह का होता है एक हृदय तो है कि वो जो रक्त को शुद्धि करता है वो यहाँ पर है ग्रहण हृदय का लेकिन दूसरा होता है हृदय के पास जो स्थान है उसका भी नाम हृदय होता है नदी के समीप को नदी कहते हैं किनारे को जैसे ऐसे निकटता के कारण मुख्य जो हृदय आत्मा जहाँ रहती है वो तो इस हृदय के पास में है यहाँ पर होता है वो तो यहाँ हृदय शब्द से दोनों ले सकते हैं भौतिक वाला भी और उसका भी हम्म। हृदय उसके बाद कंठ कंठ वो प्रसिद्ध है संदेह रही थे इसमें एक ही कंठ होता है इसमें विवाद नहीं है कोई कंठ हो जाए इसी प्रकार से सिर सिर भी पूरा ले लिया गया यहाँ पर मस्तिष्क आदि जो भी भाग हैं सिरा आ जाएगा ओम बाहु व्याम उसके बाद दोनों बाहु या भुजाएं हैं दोनों ली गई है तो इस प्रकार से इस मंत्र में इतने इंद्रियों का ग्रहण है यानी आत्मा के साधनों का ग्रहण है करतल कर पृष्ठे करतल और कर पृष्ठ हाँ ये भी लिया हुआ है दोनों हाथ का दोनों तरफ का भाग तो इन सब से यहाँ मुख्य रूप से लेना है पहला अर्थ तो लेना है कि ये सारे के सारे साधन हमारे मजबूत होने चाहिए बलवान होने चाहिए पहला अर्थ यहाँ पर ये लेना है ये जितने भी अंग हैं सब हमारे बलवान हो जाए उसके लिए व्यायाम करना सुपाच्य भोजन करना निद्रा ये सारे के सारे जितने भी आहार विहार हैं या स्वास्थ्य के जितने साधन हैं वो सभी का ग्रहण हो जाएगा इसमें तत्पूर्वक यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये सारे के सारे हमारे अंग बलवान हो जाए हम्म। पहला अर्थ तो ये लेना है कि इसको बलवान करना है <clears throat> दूसरा अर्थ लेना है कि इनका हमारे साथ जो संबंध बना हुआ है यानी कि तादात्म भी बनाए हुए हैं हम इनके साथ आत्मा को शरीर का भाग मानते हैं या शरीर को आत्मा मानते हैं तो उसमें ये इंद्रिय आदि भी आएंगे तो अंत में इनको बलवान करने के उपरांत फिर इनसे अपने को हटाना भी है पे अपना जो स्वरूप लगते हैं ये इंद्रिय आदि ये अपना स्वरूप से भी हटने चाहिए दूसरा कार्य इसमें ये भी करना होगा बलवान होंगे वो हमारे बाह्य व्यवहार की सिद्धि के लिए सारे कार्य इसमें व्यवहारिक रूप में जब होते हैं हम ईश्वर की उपासना में नहीं है या अपने स्वरूप में स्थित नहीं है उस काल में या जब तक जीवन है उस काल में ये सारे हमारे व्यवहार अन्य व्यवहारों को सिद्ध करने की दृष्टि से साधन हैं तो प्रमुख तो रहेगा कि इसको इस प्रकार से बलवान बनाए लेकिन इसके साथ साथ दूसरा भाग भी जुड़ा रहेगा कि इनसे अपने को हम अलग करें तो उस अलग करने की प्रक्रिया में इतना होगा कि इन्हीं स्थानों में विशेष रूप से ध्यान देना होगा और यहाँ पर जो भी प्रतिक्रिया होती है यानी इससे जो चेष्टा हम करते हैं इन स्थानों से उस स्थान को चेष्टा रहित भीतर से कर देना हम वहाँ पर अब कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं वो हमारा स्थान बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया है इस स्थिति में लाना फिर ये दोनों कार्य करने होंगे इसके लिए जो मोटा होता है प्रयोग वो इसे शिथिलीकरण कहते हैं या जो भी कहते हैं वो होता है पहले बैठने के बाद सारे अंगों को जितना है उसको बिल्कुल शिथिल करना शिथिल करने का मतलब होता है हमारा जो उस पर अनुचित दबाव है मन से या अन्य किसी कारण से जो अनुचित दबाव है उसको पूरी तरह से हटाना हम्म, शारीरिक रूप से ये करने का होता है तो ऐसे शिथिल करके धीरे धीरे यानी उन उन स्थानों को मन से देखना और देखते समय ही ये पूरी तरह से हमारे यानी दबाव में नहीं होना चाहिए इन पर हमारा किसी तरह का दबाव नहीं हो ऐसी स्थिति बनाना और इसी स्थिति को बनाते बनाते धीरे धीरे इतना अधिक इसको निश्चेष्ट करते हैं उस निश्चेष्ट करते करते क्या होता है फिर अपना स्वरूप इनसे अलग हो जाता है बाद में हम केवल हमारा जान से ये दिखते रहते हैं ये हमारा अंग है और मैं इसको संचालित करने वाला हूँ या मैं इसका दृष्टा हूँ ये स्थिति यहाँ तक लानी है तो ये तीन चार कार्य हो गए हाँ वो तो होगा भावना रखनी हो तो साधारण रूप से है जैसे अब वाणी से ले है वाणी को करना है तो वाणी के लिए तो होगा कि हम यहाँ से कोई उच्चारण नहीं करेंगे अभी और बाकी वाणी के अब जो बलवान बनाना है उसके लिए इस अंग को दृढ़ करना है जो कंठ आदि हैं सारे फिर आ जाएंगे इसमें उच्चारण के लिए जितने भी सारे आएंगे नाभि से लेकर के कंठ तक जीवा तक ये सभी के सभी हो जाएंगे तो उसको उस रूप में ठीक करना है कि पाचन की दृष्टि से ठीक होना चाहिए सबसे पहले तो इसमें यही भाग आता है कि हमारा पाचन ठीक होना चाहिए उससे ये सारे अपने आप ठीक हो जाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में लाना है और दूसरा है कि वाणी जो अवुच्चरित वाणी है उसमें जो हम अनुचित वाणी का प्रयोग करते हैं वो उचित हो भी दुरुपयोग ना हो इसका जीवा का दुरुपयोग ना हो और वाणी हमारी जो संयमित होती है नियमित होती है जो सार्थक वाणी हो उसका प्रयोग करें ये मन से वहाँ पर संकल्प करना है ये इसकी दूसरी स्थिति होगी और तीसरा हो गया कि फिर इनके स्थान में हम जा करके धीरे धीरे अपने को अलग करेंगे तो और ईश्वर के सानिध्य में सारा कार्य होगा ईश्वर के दिए हुए साधन हैं ईश्वर से हमको मिले हैं तो अंत में हम अपना प्रयोजन पूरा करके इनको यथावत हम्म, ईश्वर को हम वापस कर दें ऐसी स्थिति में इनको रखना है यदि हम इनको अपने प्रयोजन पूरा करने से पहले नष्ट करते हैं हम्म, ईश्वर को उसी रूप में नहीं देते हैं तो ये वैसा ही दोष है जैसे किसी व्यक्ति ने हमको कोई कार्य के लिए एक अपना कोई साधन दिया और हम तोड़ फोड़ करके उसको देते हैं तो वो हमको अच्छा नहीं मानता है तो वही की वही स्थिति ईश्वर के साथ भी हमारी होती है और करते हैं हम हम प्राय इसको अपना प्रयोजन पूरा करने से पहले नष्ट कर देते हैं और फिर वापस ईश्वर को देते हैं तो वही पाप का भागी हम बनते हैं दंड मिलता है अपने को तो इसकी स्थिति इतनी मतलब होनी चाहिए कि हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए और ये अपनी स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर के यानी हमसे छूट जाए अलग तो इतने सारे भावों को लेकर के यहाँ मंत्र से हम अभ्यास करते हैं तो इस रूप में प्रयास करेंगे इन सारे भावों को लाने का उच्चारण करते रहेंगे ईश्वर से संबंध बनाएंगे फिर इसकी दृढ़ता के लिए प्रार्थना करेंगे संकल्प करेंगे और उसके अनंतर फिर अपने आप को इससे हटाने का प्रयास करना पहले समान रूप से पूरे शरीर को शिथिल स्थिर कर लें निश्चेष्ट कर लें कहीं पर भी कोई दबाव पीड़ा की स्थिति हो अस्वाभाविक स्थिति हो तो उसको अत्यंत सीधा हल्का दबाव रहित बनाने का प्रयास करें शरीर के किसी भी अंग पर अनुचित दबाव दिखाई ना पड़े टेढ़ा मेढ़ा कहीं कोई शरीर का अंग नहीं हो सर्वथा सरल मेरुदंड होना चाहिए इसके उपरांत पूरे शरीर को एक बार जैसे पीछे हमने बताया था पैर से लेकर सिर तक एक बार देखते हुए उसको शिथिल करते जाना स्थिर करते जाना मस्तिष्क आदि कहीं पर भी चक्षु आदि में कहीं पर भी दबाव की स्थिति नहीं रहे सारा ढीला कर दें शरीर में हड्डियों का जो नियोजन है वो इसीलिए है शरीर अपने आप हड्डियों के बल पर खड़ा रहता है उन हड्डियों को भी भीतर प्राण नाड़ियों के माध्यम से स्थिति विशेष दी जाती है और उन नाड़ियों में स्थित प्राण को हमारा मन नियंत्रित करता है संचालित करता है उन उन स्थानों को इस रूप में मन और प्राण के माध्यम से आगे पीछे किया जाता है इस प्रकार से संपूर्ण शरीर को खोल देना ढीला कर देना शरीर में जहाँ जहाँ दबाव दिख रहा है वस्तुतः वहाँ प्राण अवरुद्ध रहता है इस कारण से उस प्राण को वहाँ से संचालित करना वो मन के माध्यम से अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में जाकर के संभव होता है से लेकर के सिर तक पूरा एक बार कर लें इस स्थिति को इस प्रकार निर्बाध और स्थित करने के बाद अब संपूर्ण शरीर का एक बार ध्यान करें मन से शरीर के एक एक अंग की जितनी अनुभूति कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें हड्डी मांस जो भी नस नाड़ी जितना संभव हो सकता है सारे को देखने का प्रयास करें और उसी के साथ सर्वत्र आप सर्व्यापक ईश्वर हैं सभी जगह विद्यमान हैं ऐसे प्रत्येक अंगों को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करें बार सामान्य रूप से पूरे अंगों के साथ ईश्वर का संबंध बना लेने के उपरांत पुनः विशेष रूप से संबंध बनाना और उसके उपरांत अब इस मंत्र का एक एक शब्द लेकर के पुनः प्रार्थना ईश्वर से करें हे सर्वशक्तिमन परमेश्वर मेरी यह वाघ इंद्रिय अत्यंत बलवान हो सुदृढ़ होवे इनको स्वस्थ और बलवान रखने के लिए मैंने आहार विहार भोजन इन सभी साधनों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदुपयोग प्रयोग किया है किंतु अज्ञानता और असावधानी आदि के कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ सो मुझे ये तदर्थ उचित ज्ञान दें और आगे मैं पूरी तरह से इनको स्वस्थ और बलवान बनाने का प्रयास करता रहूँ वाणी से मैं सदैव सत्य को ही प्रकट करने का प्रयास करूं सत्य के साथ अपनी वाणी का संबंध ना रखूं सर्व्यापक परमेश्वर आप संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण हैं उसी प्रकार से यह प्राण भी हमारे शरीर का आधार है प्राण है आप इन प्राणों के भी प्राण हैं अतः मेरे इन प्राणों को आप स्वस्थ और दृढ़ बनाएं शुद्ध प्राणों को शुद्ध करें शरीर के प्रत्येक अंग में इन प्राणों का वास है अतः पूरे शरीर में ये मेरे प्राण अपने अपने कार्यों को यथावत रूप से सिद्ध करते रहें में जहाँ कहीं अवरोध होता है वहाँ पर ध्यान जाने पर श्वास प्रश्वास की स्थिति अस्वाभाविक रहती है उस स्थिति अस्वाभाविक स्थिति को स्वाभाविक बनाने का प्रयास करने से वहाँ पर अंतर आता है लेने छोड़ने में बाधा होने पर शरीर में शीघ्रता होती है उसको विलंबित करना उसके लिए प्राण को सूक्ष्म करना और उस स्थान को धीरे धीरे मन से खोलने का ढीला करने का प्रयास करना चाहिए हो इसी प्रकार अपने आप हे भगवान हमारे इन नेत्रों को स्वस्थ करें दीर्घायु करें पूरे जीवन हम इन आँखों से देखते रहें अज्ञानता और किसी अन्य कारणों के कारण तो हमारे नेत्रों में विकार आ गए हैं कृपा करके इन्हें दूर करें नेत्रम श्रोत्रम <clears throat> हे भगवान आप मेरे इन दोनों कानों को स्वस्थ करें सुनने के विषय में जो भी बाधाएं हैं हमारी इन्हें दूर करें हम पूरे आयु तक अच्छी प्रकार से सुनते रहें पानी और यह श्रोत्रेंद्रिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है इनके अभाव में जीवन जीवन नहीं रह जाता आँख आदि के बिना फिर भी कार्य चलता है किंतु श्रोत्र के बिना व्यक्ति एक साथ बहरा होते ही गूंगा हो जाता है अतः यह इंद्रिय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है शब्दों के ऊपर हमारा बहुत सारा व्यवहार खड़ा होता है जो कि इन्हीं इंद्रिय के माध्यम से संपन्न होते हैं अतः हमारी यह इंद्रिया अत्यंत स्वस्थ हो बलवान हो हमारी ये नाभि इंद्रिय जो कि संपूर्ण शरीर का आश्रय है आधार है इसकी दृढ़ता होने से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बलवान सक्षम रहता है नाभि में प्राणों का जमाव हो जाने से अन्य अंगों में भी प्राण संचार में बाधा होने लगती है उनको मन से हटाने का प्रयास करना चाहिए श्वास प्रश्वास को अत्यंत शिथिल करने से सूक्ष्म करने से यहाँ पर लाभ होता है श्वास प्रश्वास को लंबा करने से सहायता मिलती है इसमें ओम हृदय हे परमपिता परमेश्वर मेरे हृदय को जो कि संपूर्ण शरीर के लिए रक्त का आदान प्रदान करता है संपूर्ण शरीर को सतत गतिशील होने से चेष्टा प्रदान करता है हमारी चेतना को बनाए रखता है उस हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण हृदय को दृढ़ बनाए सबल बनाए यही हृदय मेरे आत्मा मन आदि का भी निवास है मुझे इसका भी परिजान कराएं कंठ मेरा यह कंठ स्वस्थ हो दीर्घायु हो बलवान हो शब्दोच्चारण की सारी प्रक्रिया इन कंठ के माध्यम से ही संभव होती है अतः मेरे कंठ के कफादी विकारों को दूर कर दें सिर मेरा सिर सदैव पूरे शरीर पर नियंत्रण बनाने वाला हो मन के कार्यों को ज्ञान के कार्यों को शरीर के साथ अभिव्यक्त करने वाला यह हमारा सिर मस्तिष्क अत्यंत बलवान हो संपूर्ण शरीर के संचालन का यह भौतिक केंद्र मस्तिष्क या सिर ही होता है यह विशेषकर आंतरिक रूप से इसके नस नाड़ी तंतुएं आदि स्वस्थ होवे बलवान होवे सार्थक और प्रामाणिक चिंतन ज्ञान की अवस्था में यह मस्तिष्क अच्छी प्रकार से कार्य करता रहता है शेष अज्ञान आदि के कारण इसमें विकृतियां आती जाती है अतः हम ज्ञान पूर्वक ही अपने सारे व्यवहारों को कर सकें इस मस्तिष्क की दृढ़ता के लिए सदैव हम ज्ञान का ग्रहण करते रहें अज्ञान से बचते रहें यशो बलम मेरी दोनों भुजाएं अत्यंत बलवान हो सदा इनसे मैं पुरुषार्थ करता रहूं जिसके फलस्वरूप हमें यश और बल की प्राप्ति होते रहे कभी भी मैं आलस्य प्रमाद आदि से युक्त होकर पुरुषार्थ रहित नहीं हूँ इतना पुरुषार्थ में करते रहूं कि हर किसी के पालन में किसी को देने में भी यह सदा समर्थ रहे जिससे मुझे यश की प्राप्ति हो दुष्टों का संहार श्रेष्ठों का पालन करते हुए मैं अपने जीवन को भी इन भुजाओं के माध्यम से पापों से दूर और पुण्य से युक्त करता रहूं हाथ की हथेलियां और पीछे के भाग मेरे उत्तम स्पर्श करने वाले हों सारे के सारे कार्य हमारे इन हाथों हथेलियों के माध्यम से ही उंगलियों आदि के माध्यम से ही संपन्न होते हैं अतः इन मुट्ठी आदि सभी हथेली आदि में पूर्ण बल हो पूरा हो जाता है आगे का भाग पुनः आगे करेंगे अब इसको यहीं विराम देते हैं